ऐ लोगो अगर तुम्हें दोबारा जिंदा होने के बारे में कुछ शक है तो जरा सोचो कि हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया फिर नुतफे से फिर एक जमे हुए खून से फिर एक गोश्त के लोथड़े से जो कभी पूरा बन जाता है और कभी पूरा नहीं बनता ताकि हम तुम्हारे लिए तुम्हारी हकीकत खोल कर बता दें और हम तुम्हें बाओं के पेट में जब तक चाहते हैं एक मुतयन मुद्दत तक ठहराए रखते हैं फिर तुम्हें एक बच्चे की शक्ल में बाहर लाते हैं फिर तुम्हें पालते हैं ताकि तुम अपनी भरपूर उम्र तक पहुंच जाओ और तुम में से बाज वो हैं जो पहले ही दुनिया से उठा लिए जाते हैं और तुम्ही में से बाज वो होते हैं जिनको बदतरीन उम्र यानी इंतहाई बुढ़ापे तक लौटा दिया जाता है यहां तक कि वो सब कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं जानते और तुम देखते हो कि जमीन मुरझाई हुई पड़ी है फिर जब हम उस पर पानी बरसाते हैं तो वो हरकत में आती है उसमें बढ़ोतरी होती है और वो हर किस्म की खुशनुमा चीजें उगाती है